सभी मेरे साथ मिलके तीन बार परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे अपने स्वर को मेरे साथ मिला करके रखें मन में परमात्मा को सर्वरक्षक स्वीकारते हुए भावना को बनाते हुए उच्चारण करेंगे ओ आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी आचार्य सोमदेव जी आदरणीय भजनोपदेशक श्री सतीश सुमन जी और उनके साथ पधारे हुए श्री कृष्ण जी आर्य समाज के पदाधिकारीगण और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों आपके इस समाज में हम सबको आने का अवसर मिला ये जो ब्रह्मचारी हैं ये वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ में पढ़ते हैं आप में से बहुत से लोग उस संस्था से परिचित होंगे ये ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद के द्वारा निर्दिष्ट पाठ विधि पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं महर्षि दयानंद व्यक्ति को विद्वान विवेकी बनाना चाहते थे महर्षि को यह पता था कि बिना ज्ञान और विवेक के न तो ये जीवन सफल हो सकता है और न आगे के जीवन और न ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है तो महर्षि ने एक पाठ्यक्रम दिया जिसमें संस्कृत को समझने के लिए अष्टाध्यायी संस्कृत के व्याकरण को बहुत महत्ता दी महर्षि की ये दृढ़ मान्यता थी कि बिना प्राचीन ज्ञान के इस संसार का उद्धार नहीं हो सकता संस्कृत में हमारे वेद हैं वो कुछ संस्कृत से भी विशिष्ट भाषा है उसको वैदिक भाषा बोलते हैं लेकिन सामान्य रूप से उसको हम संस्कृत कह सकते हैं वो ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा ने हमें संस्कृत में दिया और हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि हुए हैं उन जिन्होंने वेद का गंभीर अध्ययन किया वेद के तत्वों को समझा उसे हमारे लिए उस समय संस्कृत भाषा में लिखा बहुत से श्लोक लिखे बहुत से सूत्र लिखे उस वेद से आ रहे ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान को ऋषियों के ज्ञान को समझे बिना इस समाज का उद्धार नहीं है समाज में संसार में विद्वानों की कमी नहीं है बहुत विद्वान हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं कलाकार हैं लेखक हैं चिंतक हैं बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति आज भी हैं और हम उनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं हम उन्हें ज्ञानवान मानते हैं और आज के नवयुवक नवयुवतियां जो अभिनेता अभिनेत्री हैं जो अधिक पूज्य हैं आज के जमाने में विभिन्न माध्यमों से आते हैं उनको भी अपना आदर्श मानते हैं सोमदेव जी बात कर रहे थे कि ज्ञान सबसे बड़ा है ऋषियों ने कहा है कौन सा ज्ञान आज बीएससी एमएससी किया व्यक्ति पीएचडी किया हुआ व्यक्ति विभिन्न प्रश्नोत्तरियों में क्विज में भाग लेने वाले व्यक्ति हमें बड़े ज्ञानवान दिखाई देते हैं संसार में कितने देश हैं क्या आबादी है कितने बड़े पुल हैं ये ग्रंथ किसने लिखा ये कविता किसकी है ये फिल्म किसने बनाई न जाने कितनी जानकारियां आप लोग सब देखते हैं और वो बच्चे बड़े बुद्धिमान समझदार कहे जाते हैं होते भी हैं बौद्धिक सामर्थ्य बहुत होती है मेहनत भी की होती और यही बात आज विज्ञान के जानने वालों के लिए भी है वो बुद्धिमान है विद्वान है और अपने ज्ञान को उन्होंने व्यवहार में ला दिया ये इतने यंत्र आदि हमें उपलब्ध करा दिए और हम उसका उपयोग करते हैं तो क्यों ना हम उनसे प्रभावित होंगे हैं विद्वान प्रकृति का अनुसंधान करते हैं प्रमाणों से परीक्षा करते हैं कारण कार्य संबंध लगाते हैं और सत्य को पा लेते हैं सत्य को पाने के दो रास्ते हैं एक दृश्य काव्य है जो संसार दिखाई देता है इसको समझ के हम बहुत कुछ सीखते हैं कोई ना बताए तो भी सीखते हैं और एक श्रव्य काव्य है जो कि हम सुनते हैं वेद की वाणी सृष्टि के रचयिता ने जिस वेद को रचा वो सृष्टि के क्रम के अनुरूप रचा है और जिस सृष्टि में जिन मनुष्यों को प्राणियों को बनाया उनके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है वो उन्होंने बता दिया है आज का वैज्ञानिक भी तो इसी खोज में लगा हुआ है कैसे हमारा जीवन सुखदायी हो यदि रोग आते हैं तो रोग कैसे दूर हों रोग क्यों ना आए कैसे ना आए जल की कमी है तो कैसे पूर्ति की जाए पोषण की कमी है तो कैसे पूर्ति की जाए हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके वो अनुसंधान करते हैं और उससे हमें बहुत सी उपयोगी चीज देते हैं अंतर क्या है ज्ञान तो दोनों तरह पाया जाता है उपयोग उसका भी है और चूंकि आज का युवक आधुनिक अनुसंधानों को कंप्यूटर को खूब जानता है और वो उनसे इतना प्रभावित है वो सोचता है ये वेद की बात तो कहते हैं लेकिन वेद से तो कोई कंप्यूटर बना नहीं आज तक ये वैदिक विद्वानों ने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया कोई यंत्र खड़ा नहीं किया ठीक है परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो संकेत के रूप में दिशा निर्देश के रूप में है और वो वो जगह बताइए जहां हम भटक सकते हैं बिगड़ सकते हैं यदि सच्चा व्यक्ति है और अनुसंधान कर रहा है तो परमात्मा की ओर से उसको ज्ञान वहां भी मिलता है लेकिन दिक्कत यह है कि सामान्य विद्वान आधुनिक विद्वान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं तक देखता है जहां तक हमारे इंद्रियों को शरीर को सुख मिले कुछ और कहेंगे तो मन को कुछ अच्छा लगे ऐसा कुछ मनोरंजन ऐसे यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र ऐसे चमची मिली ध्वनिया और प्रकाश इत्यादि वो पैदा कर देते हैं लेकिन क्या ये शरीर ये इकाई ये व्यक्ति इतना ही है उन्हें तो इतना ही पता है उसके लिए वो खूब अच्छी तरह से लगे हैं और हमारे लिए हित करते रहते हैं उनका ज्ञान उनके प्रयोग की सीमा तक सीमित रहता है ये ठीक है कि यदि वो अपने प्रयोग की सीमा बढ़ा देते हैं तो सत्य का ज्ञान उनको भी हो जाता है पर उसको भी सुनने वाले बहुत कम होते हैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं मन को हम शांत और नियंत्रित कैसे रखें मन से हम परेशान भी होते हैं भजन में भी आपने सुना कि मन को हम सबल कैसे बनाएं मन को बस में कैसे करें ये बेबस हम अपने को बेबस पाते हैं मन को नियंत्रित करने में और ये समस्या केवल योगियों या धार्मिकों की ही नहीं है ये समस्या आधुनिक वैज्ञानिकों की भी है जो आधुनिक विद्या में लगे हैं विद्यार्थी <clears throat> विद्यार्थी हैं उनकी भी ये समस्या है आज जो सूक्ष्म कार्य करते हैं शल्य क्रियाएं करते हैं ब्रेन सर्जरी करते हैं वहां भी ये समस्या है सब जगह एकाग्रता चाहिए और मन अनियंत्रित होता है अब उन्होंने देखा कि मन कब शांत होता है इंद्रियों का आकर्षण है और मन उधर भाग रहा है तो उस समय मन को रोकने में कष्ट होता है या तो उसी तरफ जा, जाने देने में कष्ट होता है मन को रोकने में बड़ा कष्ट होता है और वैज्ञानिक हमारी सुविधा का ध्यान रखते हैं उन्होंने देखा कि विषयों की तरफ जाएंगे और विषयों को भोग लेते हैं तो इंद्रिय शांत हो जाती है मन शांत हो जाता है और इसका अनुभव हम सब भी करते हैं अगर न समझाया जाए तो हमें भी यही प्रतीति होती है तो हमारे धर्म वाले भी जो धर्म या योग या साधना को बताते हैं वैज्ञानिकों से उनकी विद्या से इतने प्रभावित कि वो भी अपनी ध्यान पद्धतियों में और अपनी शिक्षाओं में इसको देने लग गए विषयों से यदि भागेंगे तो ये और ज्यादा खींचेंगे परेशान करेंगे मन को जबरदस्ती यदि विषयों से हटाया तो मन बाद में ऐसा फूटेगा जैसे ज्वालामुखी इच्छाओं का दमन हम करते जाएंगे तो क्या होगा एक इच्छा दबाई दूसरी दबाई दबाते जाओ थोड़ी देर लगेगा कि हमने दबा लिया है किंतु बाद में क्या होगा कब तक दबाओगे वो दाब इतना बन पड़ेगा कि वो विस्फोट की तरफ निकल पड़ेगा और ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में देखा भी जाता है तथा कथित धार्मिक व्यक्तियों के जीवन में देखा जाता है तो उन्होंने संदेश दिया कि इस मन को मत दबाओ जैसा मन में आता है वैसा कर दो समाप्त सारा झंझट ही समाप्त फिर आ जाता है फिर कर लो और इसी आधार पर उन्होंने मनोनियंत्रण के उपाय बताए गुस्सा आ रहा हो तो क्या करें अब गुस्सा करना तो गलत है गुस्सा करना तो गलत है क्योंकि दूसरा भी प्रतिक्रिया करता है लेकिन क्या करें अब उन्होंने वहां ये नहीं कहा कि इसको भी जैसे आप विषयों को भोगते हैं ऐसे मन को भी सामने वाले को गुस्सा कर दो जो कहना है बोल दो अब वहां उन्होंने अपना सिद्धांत नहीं माना क्योंकि पता है कि वहां पर झगड़ा हो जाएगा तनाव हो जाएगा लेकिन मूल सिद्धांत वही था कि मन के वेग को निकाल दो तो क्या करो तो बोले गुस्सा आ रहा है किसी को मुक्का मारना है तो आके घर पे अपने तकिए को उठाओ और उस पर मार लो घुसे जितने मारने निकाल लो अपने मन की गुस्सा आ रहा है घर पे आकर के अपने कुछ किसी व्यक्ति को या उस व्यक्ति का चित्र सामने रख करके बोल दो जितना गालियां निकालनी है निकाल दो आपका अधिकारी बॉस आपको परेशान करता है मन बहुत आक्रोशित है दबा पड़ा है कि इसको तो छोड़ूंगा नहीं हमेशा इतना काम करता हूं लेकिन मेरे को परेशान करता है तो कैसे बचे तो वहां तो बोल नहीं सकते नौकरी चली जाएगी तो बोले उसका चित्र बना लो घर में और सामने रख करके खूब बोलो तो मन शांत हो जाएगा गुस्सा आया गुस्सा निकाल दिया और एक है कि गुस्सा अंदर ही अंदर रखोगे तो वो प्रेशर बनेगा प्रेशर कुकर की तरह और प्रेशर कुकर में वैसे तो उन्होंने वो जो ऊपर रखा रहता है दबाव जिससे वो दबा रहता है प्रेशर बढ़ता है तो निकल जाता है लेकिन वो बंद हो जाए तो तो एक वो सेफ्टी वाल्व भी रखा रहता है वो तापमान से पिघल जाता है तो छेद खुल जाता है और निकल जाता है कितना रोकोगे निकलना तो है तो हमारे बहुत से लोगों ने चूंकि विद्वान ज्ञान से हम प्रभावित होते हैं दुनिया उस तरफ जा रही है तो हमारे जो सिखाने वाले थे उन्होंने भी कहा कि यही विधियां वहां भी बताने लग गए निकाल दो अपना गुस्सा काम क्रोध लोभ मोह जो आपको आ रहा है इधर नहीं तो कहीं और निकाल दो और शांत रहो ये उपाय खोजा कैसे दृश्य काव्य को देख करके ये जो दिखाई दे रहा है उन्होंने प्रयोग किए लोगों को देखा और लोगों को शांति भी मिल रही है और निष्कर्ष निकाल लिया है और जब हम अपने ऋषियों को देखते हैं तो ऋषि तो कहते हैं कि ऐसा मत करो गुस्सा तो नहीं करना है क्या किसी वेद में या किसी ग्रंथ में ऐसा उपाय बताया है कि आपको गुस्सा इस पे आ रहा हो तो दीवार पे निकाल लो हथौड़ा लेकर के या कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी को काटने लग जाओ हथौड़े से पत्थरों को फोड़ने लग जाओ जितना गुस्सा निकालना है निकाल दो कहीं ऐसे उपाय बताए हैं नहीं बताए उन्होंने इस दृश्य काव्य को नहीं देखा था क्या हम ऐसा कह सकते हैं उन्होंने मनुष्यों की इन गतिविधि को नहीं देखा कि विषयों के सेवन से मन शांत होता है इंद्रियां शांत होती हैं मन के आवेग को दूसरी तरफ निकाल दो किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए लिख मारो कुछ भी लिखते जाओ उसको गालियां जितनी देनी है लिख लिख करके दे दो और कागज को फाड़ के फेंक दो सांप भी मरेगा लाठी भी नहीं टूटेगी ये उपाय हमारे ऋषियों को दिखाई नहीं दिए थे लेकिन महर्षि दयानंद इस बात को कहते हैं आप विद्वान है कोई बुद्धिमान है वो भी त्रुटि कर सकता है हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं मन को तो आपको रोकना है लेकिन मन के रोकने का उन्होंने ये नहीं कहा था कि मन को आप दबा दो अंदर तो इच्छाओं को उभार रहे हो उबाल ले रहे हो उबल रही हैं इच्छाएं और बाहर से इंद्रियों को रोक दो ऐसा नहीं कहा उन्होंने ठीक है इंद्रियों का भी संयम करना चाहिए लेकिन साथ में मन के संयम के साथ और मन को कैसे रोका जाता है ये शास्त्रों में बताया साधक लोग साधना करते हैं धार्मिक लोग साधना करते हैं तो बहुत दिनों तक ये सब उछलते रहे आज भी उछलते हैं कि मन को स्प्रिंग की तरह दबाओगे तो वो स्प्रिंग एक दिन उछलेगी और जितना स्प्रिंग को दबाओगे वो उतनी ज्यादा उछलेगी उतनी ज्यादा प्रतिक्रिया उसकी लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों का भी एक गुण है कि वो कुछ खोज करते रहते हैं और जो अनुकूल खोज होती है उसको सब लोग मान लेते हैं कई बार और कई बार विपरीत होती है तो चुप रह जाते हैं तो वैज्ञानिकों ने ऐसा ही इसी बात पर प्रयोग किया कि आपको गुस्सा आ रहा है अपने गुस्से को निकाल दो दो वर्ग बना दिए उन्होंने एक वर्ग ऐसा था एक ग्रुप ऐसा था जिसमें आप अपने गुस्से को निकाल दो जो निकालना है बोल करके लिख करके कितनी शांति आती है और दूसरा वर्ग था जिसको कहा कि आप अपने गुस्से को नहीं निकालोगे न गाली दोगे न कोई भुक्का मारोगे न कोई कांच फोड़ोगे न लिखोगे उसके बारे में कुछ नहीं बस शांत बैठोगे उसको रोकोगे और फिर देखा तो ये वही पाया जैसा कि प्रचलन में आ गया है आजकल जिन्होंने गुस्सा निकाला वो जल्दी शांत हो गए थे और जिन्होंने गुस्सा नहीं निकाला था वो परेशान थे देर तक थे ये तो खोज पहले भी हुई थी उन्होंने इस चरण को दोबारा किया दोबारा किया और वहां ये देखा कि विपरीत परिस्थिति में गुस्सा किसको जल्दी आता है पहले भी उनको विपरीत परिस्थिति पैदा की गई उनके लिए और उनको गुस्सा आया और गुस्से के उपाय के लिए दो भेद कर दिए आप ये उपाय कीजिए और आप गुस्से को रोकिए गुस्सा नहीं करना है आपको तो पहला परिणाम तो अच्छा आया जिन्होंने गुस्से को निकाल दिया था फिर प्रयोग किया अब अगली बार जब गुस्सा दिलाने वाली स्थिति पैदा की गई उनको अलग अलग एक एक का प्रयोग है ये एक वर्ग है लेकिन अलग अलग प्रयोग किए शब्द तो उनका एक बात पे ध्यान गया गुस्सा निकालने से शांत तो होता है लेकिन दूसरी तीसरी बार जब किया तो किनको गुस्सा जल्दी आया वो गुस्सा दिलाने के लिए परिस्थिति पैदा करते थे नहीं नहीं सबको एक जैसे तो उन्होंने ये पाया कि जिन्होंने पहले गुस्सा निकाला था अपना भड़ास निकाली थी उनके सामने जब गुस्से की परिस्थिति पैदा हुई तो वो जल्दी गुस्सा हो गए दूसरी तीसरी बार और जल्दी गुस्सा हुए गुस्सा उनको जल्दी आ रहा है और फिर निकालते भी हैं और दूसरा वर्ग जो था जो गुस्से को सहन कर रहा था उनके सामने जब अगली बार फिर गुस्सा पैदा करने की परिस्थिति बनाई गई तो उनको गुस्सा देरी से आया अब यदि दृश्य काव्य को प्रथम दृष्टि से देख करके और वैज्ञानिक खोज और जैसा कि कर रहे हैं आजकल ये वो अनुसंधान है जो हमारे ऋषि सदा कहते रहे हैं ये हम सब जानते हैं लौकिक रूप से कि यदि एक बुरे कर्म को हमने पहली बार किया है तो बड़ा जोर लगता है हमारे को चोरी करना झूठ बोलना व्यविचार करना पहली बार बहुत जोर पड़ता है और दूसरी बार जोर पड़ा और हमने कर लिया फिर बहुत जोर से लेकिन दूसरी बार तीसरी बार जितनी बार उसको करते जाएंगे उसको करने में हमें कम जोर पड़ेगा और बहुत आसानी से झूठ बोलेंगे हम बहुत आसानी से चोरी करेंगे हम बहुत आसानी से वे विचार करेंगे और पश्चाताप भी नहीं होगा यानी इन गलत कार्यों को हम बार बार यदि करते हैं तो उसके संस्कार पड़ेंगे और हमें बहुत आसानी से फिर हम बहुत सरलता से उस ओर बहते जाएंगे क्या ये हमारा उद्देश्य है हम गुस्सा दूसरी तरफ निकाल देंगे क्या ये उद्देश्य है हमारा कि हमें बार बार जल्दी गुस्सा आ जाए एक रोग का इलाज करने लगे थे और दूसरा रोग पैदा कर दिया कि बार बार चिड़चिड़ाहट हो रही है ठीक है आप इलाज तो कर लेते हो गुस्सा निकाल देते हो लेकिन आपको गुस्सा कितनी बार आ रहा है अब हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ रहा है ये पार्श्व प्रभाव दुष्प्रभाव भी तो साथ में है बस यहां ऋषि और वेद और लौकिक व्यक्ति का और जो ऋषि वेद को नहीं मानते वहां यही अंतर रहता है ये गुस्सा निकालने का भड़ास निकालने का लक्ष्य क्या है आपका वो सोचते हैं तात्कालिक शांति और ऋषि सोचते हैं कि इसको गुस्सा ना आए ऐसी प्रक्रिया बनानी है गुस्सा शांत यहां भी होगा गुस्सा ऋषि भी नहीं चाहते काम क्रोध लोभो ये ऋषि भी नहीं चाहते वेद भी नहीं चाहता उसकी शांति वो भी चाहते हैं किससे जल्दी गुस्सा शांत होता है गुस्सा किससे जल्दी शांत होता है सरल मार्ग कौन सा है सरल मार्ग भड़ास निकालने का अभी मैं योग शिविर में अजमेर में था एक विशेष ध्यान पद्धति अभी चला रही चली जा रही है पढ़ाई जा रही है सिखाई जा रही है शिक्षक थे तो उनको वैदिक ध्यान पद्धति उपासना पद्धति का लाभ बता रहा था उसमें एक लाभ मैंने ये भी बताया कि इसमें समाधि सबसे देर से लगती है इसमें ईश्वर की प्राप्ति सबसे देर से होती है ये वो मार्ग है अब इसे निंदा कहें प्रशंसा कहेंगे निंदा ही कहेंगे जो रास्ता सबसे देरी से लक्ष्य तक पहुंचाता हो वो तो प्रशंसा के योग्य नहीं है ऋषियों का मार्ग कठिन और लंबा ही दिखाई देगा अब ये क्रोध को दूर करने का उपाय जो है रोक के रखना नियंत्रित करना और इन्होंने देखो कितना सरल उपाय बता दिया ये सारे मत संप्रदाय जनता की मांग के अनुसार जल्दी के लिए कुछ बताते हैं साधक लोग आते हैं जी कोई सरल सा उपाय बता दो सरल सा उपाय बता दो पाप मुक्त हो जाएंगे सरल सा उपाय बता दो मन शांत हो जाए सब सरल की तरफ भाग रहे हैं शॉर्टकट चाहिए तो वैदिक धर्म में तो छोटा रास्ता नहीं है छोटे रास्ते सब जगह मिलेंगे आप लिखे भी लिखेंगे बोर्ड लिखेंगे कि इतनी जल्दी समाधि इतनी जल्दी ये इतनी जल्दी मुक्ति इसको करो पापों से मुक्ति छोटे छोटे उपाय चाहिए तो दूसरी जगह जाइए यदि धैर्य है सबसे देर से मुक्ति होगी तो वैदिक धर्म से होगी अब इसे आप निंदा भी समझ सकते हैं इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि यदि मुक्ति होगी तो वैदिक धर्म से ही होगी दूसरी नहीं होगी अब ये गुस्से को शांत तो कर लेते हैं लेकिन क्या गुस्सा आना बंद हुआ इससे आप गुस्से को शांत तो कर रहे हो किसी तात्कालिक उपाय से लेकिन क्या गुस्सा आना बंद हुआ इससे अब इस पे वैज्ञानिक या तात्कालिक ध्यान नहीं देते उठाया उसको और देने लगे उपदेश सिखाने लगे साधना के अंदर इस तरह गुस्सा निकालो लक्ष्य है गुस्से को शांत करना एक तरीका है गुस्सा पैदा करो गुस्सा आएगा और शांत करो और एक तरीका है कि गुस्सा आए ही नहीं ऐसा शांत कर दो देर तो लगेगी शांति में परिणाम आते हुए तो देर लगेगी लेकिन जिसने धैर्य रख लिया जिसने इस बात को धैर्य रख लिया वो गुस्से को शांत कर देगा आपने ऐसा शांत करेगा कि बस होगा ही नहीं वो ये महर्षि दयानंद और औरों में अंतर है महर्षि दयानंद की बात बड़ी और कठिन कठोर लगेगी और आज के बच्चे या सभी कुछ युवा भी और वृद्ध भी सरलता तो चाहते ही हैं अब यहां तो कठिनता दिखती है हम तो प्रस्तुति ये करते हैं कि इतना कठिन है ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो वो तो छोड़ नहीं सकता धन संपत्ति की हम इतनी आलोचना कर देंगे कि वो तो छोड़ ही नहीं सकता साधनों को वेद ने मना किया है क्या धन संपत्ति का हम बता रहे थे अभी आचे मना नहीं किया है लेकिन धर्म पूर्वक का है त्याग पूर्वक का है तो गुरुकुलों में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है वो भी विद्वान और ऋषि और सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा परंपरा में दी जाती है और आज के विद्यालयों में भी विद्या पढ़ाई जाती है वो भी वैज्ञानिकों और विद्वानों के द्वारा तैयार की हुई बताई जाती है अपने अपने क्षेत्र हैं लेकिन एक विद्या वो है जिसमें त्रुटियां नहीं होती हैं वो परिशुद्ध है क्योंकि परमात्मा आगा पीछा सब जानता है वैज्ञानिक ने तो जो प्रयोग किया तात्कालिक उसको बता दिया और हम लिए जा रहे हैं उसको मान रहे हैं परमात्मा और छोर को सारा जानता है उसके ज्ञान से ही हम परिशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वो वेद बिना संस्कृत के रह नहीं सकता आज परिस्थिति ऐसी है कि बीज के रूप में ये चल रहे हैं ये बीज है मात्र बीज है और कुछ नहीं है लेकिन जीवित परंपरा आज भी है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए आर्य समाजियों को हमें तो है ही कि ये मात्र छह या तो जो भी है थोड़ी सी संख्या है वानपस्थ आश्रम में अभी तीस ब्रह्मचारी हैं तीस भी क्या यूं कहेगा तीस तो कुछ भी नहीं है और तीन सौ तीन हजार तीस हजार लोग पढ़ते होंगे संख्या नहीं गुणवत्ता शुद्धता जो है वो मायने रखती है और बीज हम सुरक्षित रख रहे हैं और ये आर्य समाज रख पा रहे हैं बाकी जगह भी ये चीजें पढ़ी जाती हैं लेकिन अशुद्धियां मिली रहती आप सब लोग आर्य समाज के लोग इसके महत्व को कुछ समझते हैं आप लोग सहयोग भी करते हैं आप लोगों के सबके सहयोग से ही ये गुरुकुल चलते हैं हम यहां आए तो आप लोगों ने हमारी सारी व्यवस्थाएं की हैं आप लोगों के मन में इसको बीज रूप न रहने देने के लिए एक भाव हो कि हम इसको पल्लवित पुष्पित करें अपने बच्चों को भी दें अपना सहयोग करें हमारा योगदान भी इसमें होना चाहिए हमारे व्यक्ति भी इसमें जाने चाहिए हमारे कुल का कोई व्यक्ति इसमें जाना चाहिए ये बहुत पुण्य का कार्य है बहुत पुण्य का कार्य है ये ये ब्रह्मचारी न्याय दर्शन और व्याकरण पढ़ते हैं वो न्याय दर्शन में प्रमाणों की परीक्षा ही बताई जाती है क्या सही है और क्या गलत है इसी की विवेचना है वहां पर और महर्षि दयानंद जो इतना सही सही निर्णय कर सके थे प्रमाणों दर्शनों के आधार पर कर सके थे आप लोग भी अपना अच्छा स्वाध्याय करेंगे करते हैं और दूसरी बात पे किसी को गर्व करने की जरूरत नहीं सोमदेव जी जो बड़े का कह रहे थे हमें संप्रदाय बड़े दिखाई देते हैं कहीं जाते हैं देखो यहाँ इतने बड़े भवन है यहाँ इतनी भीड़ है इतना ये है हम उन चीजों को बड़ा मान करके उनको बड़ा मानते रहते हैं और अपने आप में दिनहीन बने रहते हैं ये तो वो चीज है जो और किसी के पास में नहीं है सबसे बड़ा क्या परिशुद्ध जो है शुद्धतम जो है वो महर्षि की कृपा से हम सबको प्राप्त है और हमें उसका अधिकाधिक दोहन करना चाहिए उपयोग हम जितना कर सकें वो प्रभु की कृपा है हमें इसकी सन्निधि मिली है और हम उसका उपयोग करके इसको बहुत अच्छा कर सकें मैं पुनः सभी आर्य समाज के अधिकारियों का और आर्य समाज के सभी सदस्यों का बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों ने सारी व्यवस्था की और आपके मन में ये भाव बना रहे ये भी कामना करता हूं और आप लोगों को भी इससे बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी पुनः धन्यवाद करते हुए विराम देता हूं ओम शर्मा